अंदर जाए तो ओम बाहर आए तो गिनती दबोच गई नाड़ी जाल है बुद्धि का उसमें ओम स्वरूप ईश्वर की शक्ति भरो सारे दुख पाप बुद्धि की कमजोरी से होते बुद्धि की शुद्धि बीस से ज्यादा नहीं फिर आगे गर्दन दबोच दो ओम एक ओम दो ओम तीन बीस चलो एक होता है पाना दूसरा होता है जानना पाया उसे जाता है जो पहले नहीं है जाना उसे जाता है जो पहले था ठीक है एक होती प्रतीति दूसरी होती है प्राप्ति तो दुनिया की चीजों की प्रतीति होती है कि हमें ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया जैसे सपने में प्रतीत होता है ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया आँख खुली तो कुछ भी नहीं ऐसे बोलते बेटा मिल गया पत्नी मिल गई ये मिल गया वो मिल गया आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं दूसरी होती है प्राप्त की प्राप्ति जो पहले प्राप्त है खाली उसको खोजा तो मिल गया तो पहले था जो पहले था खाली भूल के कारण पता नहीं चलता था तो परमात्मा हमारा आत्मा होकर पहले बैठा है अभी है बाद में रहेगा बेटा पहले नहीं था शरीर भी पहले नहीं था दुनिया का कोई धन दौलत पहले नहीं था जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं हो गई अच्छा हाँ जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो नेता नहीं है मजदूर है बेचारा रीता हो जाएगा वो सेठ नहीं है मजदूर है वो साधु नहीं है मजदूर है वो संत नहीं है मजदूर है जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो मजदूर है अगर स्पष्ट बोलो तो गधा मजूर है जैसे गधा मजूरी वाले को क्या है श्रम तो ज्यादा है और मिलता कुछ भी नहीं हाँ, जो मिला वो टिकेगा नहीं तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में और सब कुछ हो कितना भी हो लेकिन वो गधा मजूरी करता है क्योंकि शरीर अनित्य है वैभव शाश्वत नहीं और रोज मृत्यु के तरफ हम जा रहे अनित्यानी शरीरानी वैभव नहीं व शाश्वता नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहे तो अभी जो मिला है उसके बाद भी जो मिलेगा तक कब तक रहेगा संभाल संभाल के ही मरना है ना अगर सत्संग है तो जो मिला है ठीक है मिलेगा ठीक है उसका उपयोग सत के लिए हो जाएगा सत सदा रहता है जो पहले था अभी है बाद में रहे और प्रतीति पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी प्रतीत हुआ पहले अमेरिका में मेरी दुकान नहीं थी अमेरिका वाले समझ लो तो बाद में भी नहीं रहेगी पहले मेरा ये नहीं था तो बाद में भी नहीं रहेगा लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा पहले था शरीर के पहले था और अभी भी है वो बाद में रहेगा तो वो सदा प्राप्त है ईश्वर सदा प्राप्त है और संसार प्रतीति मात्र है और प्रतीति ज्यादा हो गई तो अपने को भागशाली मानते नहीं हुई कम हुई तो अपने को अभागा मानते तो गरीबी दुर्भाग्य नहीं है अमीरी दुर्भाग्य नहीं है ना समझी दुर्भाग्य कुसंग दुर्भाग्य वाहवाही होना धन होना ये सौभाग्य नहीं है सत्संग मिलना ये सौभाग्य तो प्रतीति जो है वो दो प्रकार की होती है एक होती है प्रतिभाषिक प्रतीति जैसे स्वप्न में ये मिल गया वो मिल गया ये हुआ वो हुआ और उस समय उस होने का सुख दुख भी होता है जेल आ गई तो दुखी हो गए सपने में शत्रु का के ऊपर हम हावी हो गए तो मजा आता है उसको बोलते हैं प्रतिभाषिक सत्ता दूसरा जागृत में बेटा हुआ आज्ञाकारी बेटा है मधुर भाषिणी और पतव्रता के गुणों से सज्जनता के गुणों से संपन्न स्त्री है शरीर स्वस्थ है ठीक ठाक सब है तो यह है व्यवहारिक जगत में अच्छी प्रती बेटा तो है लेकिन आज्ञा नहीं मानता है तो बेटा है कि नहीं व्यवहार जगत में उसको पुत्र मानना बेवकूफी है शिष्य तो है लेकिन आज्ञा नहीं मानता तो उसको शिष्य भी नहीं माना जाता है ऐसे शरीर है लेकिन बीमारी है धन है लेकिन टेंशन है तो ये दुखद प्रतीति है और अनुकूल है तो सुखद प्रतीति तो एक स्वप्ने की प्रतीति और एक जागृत की प्रतीति तो इस स्वप्ने की सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता और जागृत की जो प्रतीति है उसको व्यवहारिक सत्ता बोलते तो व्यवहारिक प्रतीति और प्रतिभाषिक प्रतीति ये दोनों प्रतीतियां जिस परमात्मा चैतन्य जहां से मैं उठता है उसकी सत्ता से होती है तो वह चैतन्य मैं मैं सत्य है लेकिन स्वप्न की सत्ता में स्वप्ना सुख दुख देता है जागृत की सत्ता में जागृत सुख दुख की प्रतीति कराता है लेकिन ये प्रतीतियां हो हो के चली जाती हो फिर भी जो कभी नहीं जाता उसी को बोलते आत्मा उसी को बोलते सदा प्राप्त उसी को ईश्वर बोलते वे लोग अनजान हैं जो मानते के साथ में अरस पर ईश्वर बैठा है और हमको बना बुना के भेज दिया और वे लोग भी अनजान हैं कि बोले वैकुंठ में ईश्वर बैठे वैंकुंठ अकुंठित मति मति की संकीर्णता मिट गई तो वैकुंठ ही हो गया भगवान शिव का चित्र देखोगे विष्णु जी का देखोगे कृष्ण का देखोगे राम जी का देखोगे तो गगन सदृश दिखेगा नील वर्ण दिखेगा नील वर्ण क्यों दिखता है कि व्यापक चीज नील वर्ण दिखती आकाश नीला नहीं है लेकिन व्यापक इसलिए नील वर्ण तो ये भगवान वैकुंठ में है अथवा अयोध्या में है या अमुक जगह पर है ये आरंभ के लोगों को अपने को एक शरीर में मानते हैं तो भगवान को भी किसी जगह मानकर साधना होती है ठीक है अच्छा है लेकिन अंत में जब साधना ऊंची उठती तो यहां पहुंचना पड़ता है कि ये व्यवहारिक सत्ता है और वो प्रतिभाषिक सत्ता है ये दोनों सत्ता बन बन के बिगड़ जाती फिर भी जो सदा रहता है वह परमार्थिक सत्ता है वह परमार्थिक सत्ता सदा रहती सदा थी है और रहेगी उसको जब तक नहीं जाना तब तक व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता हम पर हावी रहती स्वप्ने के समय स्वप्ने का सुख दुख सताता है और जागृत के समय जागृत का आकर्षण विकर्षण सताता है और उन्हीं में हम भटक जाते हैं कबीर जी ने कहा भटक मुआ भेदू बिना इस भेद को जानने वाले महापुरुष का ज्ञान जब तक अच्छी तरह से पचा नहीं तब तक जीव भटकता है भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय वो सच्चा सुख पाना चाहता है सारे दुखों से सदा के लिए छूटना चाहता है और ऐसा पाए कि छूटे नहीं ऐसा वो पाना भी चाहता है कोई ऐसा धनी नहीं ऐसा चाहे कि मैं निर्धन हो जाऊं कोई स्वस्थ व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं हम जो हम्म, सुखद है उसको सदा चाहते और दुखद है उसे पाला न पड़े ये हमारी चाह है तो ये चाह क्यों कि ऐसी चीज है जो सदा सुखद है और दुख से पाला न पड़े वो चीज है इसलिए ये चाह बनी है प्यास क्यों है कि पानी है इसलिए प्यास है भूख क्यों है कि भोजन है इसलिए भूख है तो कभी दुख न आए दुख से पाला न पड़े और पूर्ण सुख रूप हो वह है परमार्थिक सत्ता तो व्यवहारिक सत्ता में सुख दुख होता है प्रतिभाषिक सत्ता में भी सुख दुख होता है लेकिन परमार्थिक सत्ता जो है उसमें न सुख की कीमत है न दुख का प्रभाव है वहां परम आनंद है परम शांति परम ज्ञान है और परम पूर्णता है फिर उस महापुरुष को जो परमार्थिक सत्ता में जो के त्यों जगे हैं उनको ये नहीं होता कि हमें कृष्ण जी के दर्शन हो जाए राम जी के दर्शन हो जाए हमारा नाम हो जाए हमारा ये बन जाए हमारा ये बिगड़ जाए नहीं होता जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा है जो होगा वो अच्छा ही सब सपना है तो ये परमार्थिक सत्य को पाने के लिए मानुष्य बुद्धि है और परमार्थिक सत्य के तरफ ले जाए उसी को सत्संग बोलते हैं बाकी सब कथा वार्ता ये सब मैंने बताया था कि आपको प्रसिद्ध होना है तो एक तरीका है एमएलए वेमएलए की प्रसिद्धि कुछ भी नहीं मिनिस्टर की प्रसिद्धि कुछ नहीं मैं ऐसा तरीका बताऊं कि लोग आपको भगवान करके पूजे लेकिन वो व्यवहारिक जगत में होगा आत्म शांति अलग चीज है हाँ कोई आत्म शांति भी पाले और ये खेल भी कर ले उसकी मौज की बात है आप ना धो के अपने घर में कहीं भी साधना के कमरे में एक आयना रख दो खड़े खड़े भी उसमें अपने को देखो बैठे भी उसको देखो उसको देखने का ऐसा अभ्यास करो अपना छाया दिखेगी आयना में फिर आंख बंद करी तो आप अपने को देखो अभ्यास करना पड़ेगा त्राटक करना पड़ेगा फिर आप आईने में बैठ खड़े हो तो अपने को देखते हो लेकिन आईने की तरफ से यूं हटा दिया फिर भी अपने को अपना चित्र दिखे खड़े बैठे चलते तो एक प्रकार का थोड़े दिन ये साधना मानो एक प्रकार का पागलपन आप फिर उस छाया से बातचीत करने लगो आईना है लेकिन आईने में जो देख रहे हैं फिर यूं करो तो वहां भी देखे ऐसी एकाग्रता हो फिर ये समझो आपका मनह शरीर नियंत्रण में आ गया आप बोलो जाओ डाकोर के भजिए ले आओ यूं करोगे मन में सोचोगे और यूं करोगे डाकोर के भजिए आ जाएंगे हाँ बोलो जाओ आगरा का पेठा ले आओ बस मन में बोलते ही थोड़ी देर में आप यूं करोगे तो आगरे का पेठा जयपुर का जयपुर से करेले का आचार ले आओ जयपुर में मिलता है आ गया जोधपुर से गुंदे का आचार ले आओ गुंदानो आचार मोटा गुंदानो आ गया समझो आप उस विद्या में सफल हो गए फिर आप अपना गोदाम बना के रख दो पास में कंकु की डब्बी रिंग और कोई चीजें कोई भी भक्त आया भभूत या जो भी कुछ आपकी मौज की बात है तो उसको बोलो कि क्या चाहिए कंकु चाहिए रिंग चाहिए फिर आप लो जब जयपुर से आ सकता है तो पास में ही गोदाम में मेरे रहने के स्थान पर ही सामान पड़ा है तो भक्तों को राजी करने वाला भी यहाँ से प्रसाद देता हूँ यूं करके प्रसाद दूँ तो लोग तो गए अरे बापू जी ने तो बर्फी बना के दे दी लेकिन बर्फी पास में रखी है कैसे आई वो विद्या हम जानते बापू तो जो चाहो मन चीज ऐसी प्रसाद ही देते ये दे दे दो अरे उसको वो दे दिया कोष्ठ शुद्धि यूं करके दे दिया उनको तो ये दे दिया उनको ये दे दिया अरे भाई तो लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे लेकिन प्रभावित होंगे तो व्यावहारिक सत्ता में उलझते रहेंगे ना परमार्थिक सत्य से लोग भी रह जाएंगे और हम अगर जाएंगे तो जाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं तो जो चमत्कार से प्रसिद्ध प्रभावित हो जाते सत्संग का मूल्य नहीं जानते मैं देखो ऐसे किसी की भी कैटेसाइज में नहीं मानता हूं वो भी अपनी जगह पर अच्छा है ठीक है धन्यवाद थैंक्स लेकिन ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कुछ निराला है स्वामी विवेकानंद गए थे मनोवांछित चीज देने वाले किसी ऐसे उपासक के पास तो उन्होंने अखबारों में सुना था कि अमेरिका में उनका नाम शिकागो में धर्म सभा को संबोधित करके आए ये होगा तो बड़ा नाम था तो स्वामी विवेकानंद गए तो बोला अच्छा तुम आए कैसे क्या है बोले आप तो चमत्कार करते जो भी मांगो देते तो हम कुछ मांगेंगे तो हाँ हाँ के मांग लो तो किताब में लिखा है कि मैंने जो जो मन में आया सीजनली बिना सीजन के फल मांगे तो जहां यहां सीजन नहीं है वहां दूसरी जगह सीजन है या कहीं पड़ा है वो सब उस साधु ने यूं आकाश में हाथ घुमा के मेरे को दे दी और मैं लेके रखता गया एक बड़ा हॉल था हॉल का एक कोना एक ढेर बन गया लेकिन भाइयों आध्यात्मिक जगत के आगे इसकी कोई कीमत नहीं तो ये व्यवहारिक जगत में है जैसे स्वप्न में आपका मन जैसा जैसा चाहता है बनाता है तो मिल जाता है ना हरिद्वार जाएं ये जाएं वो जाएं तो कितना फटाफट हो जाता है वो प्रतिभाषिक सत्ता है और इसमें कुछ व्यवहारिक सत्ता में ही करना होता है लेकिन ये दोनों सपने की नाई पसार हो जाएगा इन दोनों को देखने वाली जो सत्ता है और करने की योग्यता देने वाली जो सत्ता है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली जो सत्ता है और जो ज्ञान स्वरूप है प्रेम स्वरूप है सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप है सबका सुहृद है उस सत्ता को बोलते परमात्म परमात्मा सत्ता जो आत्म सत्ता के रूप में अभी हमारे साथ है उसी की सत्ता से हमारे भोजन में से काले बाल सफेद बाल बनते उसी परमेश्वर सत्ता से हमारी आंखें देखती है कान सुनते जीव चखती है मन सोचता है बुद्धि निर्णय करती और बदलती है फिर भी जो नहीं बदलता वो मेरा परमेश्वर आत्मदेव है मैं उसी में शांत हो रहा हूं मैं उसी देव को पाना चाहता हूं उसी को प्रीति करता जो कर जे कर मिले तो राम मिले अगर मिले तो वही परमात्मा मिले जो रोम रोम में बसा जेकर मिले तराम मिले बो सब मिलो तो छा थो और सब मिला तो क्या हुआ दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो छा थो दुनिया में दिल का मतलब पूरा भी हो गया तो क्या हो गया मन चाही वस्तु मिल गई तो क्या हो गया मन चाही पत्नी मिल गई तो क्या हो गया पति मिल गए तो क्या हो गया और मन चाह मिल गया तो आसक्ति में टाइम गुजर जाएगा और वो छूटेगा तो दुख होगा तो दुख का चक्र तो सिर पे चला रहा मन चाह होगा तो दुख मिलेगा मन चाह होगा तो सुख का भ्रम होगा और मन चाह नहीं हुआ तो दुख का भ्रम होगा लेकिन ये सुख और दुख प्रतीति हो हो के चली जाएगी जिसकी सत्ता से होती है उस परमेश्वर का तो ज्ञान नहीं हुआ ना ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति वह ईश्वर सबके हृदय में सबका अपना आत्मा होकर बैठा भ्राम्यंती सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी माया आप राजधानी में बैठे तो उसी की स्पीड से आप जा रहे लोकल में बैठे तो उसी की स्पीड से जाते साइकिल में बैठे तो उसी ढंग से जा रहे जहाज में बैठे जिस दिशा के तो उधर जा रहे ऐसे आप मन के साथ बैठे हैं बुद्धि के साथ बैठे हैं चिंता के साथ बैठे हैं तामस के साथ बैठे हैं रजस के साथ बैठे ऐसे ऐसे आप भागे जा रहे हैं अपने परमेश्वर के साथ बैठे वो बाढ़ भागशाली है धन भागी मन के साथ तो अपन बैठे रहते हैं बुद्धि के साथ भी बैठते हैं बॉडी के साथ बैठते हैं तो मैं लेडीज हूँ मेरा नाम माया कड़वाणी है मैं विधायक हूँ बॉडी के साथ बैठे बैठे मैं नानक राम की बेटी तो शरीर के साथ बैठी मैं बापू की बेटी हूं तो भावना के साथ बैठी मैं हैप्पी हूं तो सुख की कल्पना के साथ बैठी मैं बहुत दुखी हूं तो दुख की कल्पना के साथ बैठी ईश्वर के साथ नहीं बैठे अगर ईश्वर के साथ बैठते बैठे तो न सुख सच्चा है न दुख सच्चा है न बाप का शरीर सच्चा है न बेटी का शरीर सच्चा न पति का शरीर सच्चा है पति के साथ पति का व्यवहार मर्यादा के अनुसार उनकी भलाई चाह के कर लिया लेकिन ये पति मेरे हैं ये पत्नी मेरी है ये फलाना मेरा है ऐसा दृढ़ता से उनको भ्रम नहीं होता ऊपर ऊपर से व्यवहार कर लेते जिन्होंने दृढ़ता से अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया उनका व्यवहार भी निर्दोष होता है और सभी के प्रति संभावता और विषम व्यवहार करते हुए भी अंदर में सभी की भलाई और समता होती जैसे आसमान में बादल हुए बरसात हुई आंधी चली तूफान चला कहीं बाढ़ आई कहीं कुछ हुआ कहीं खेत लहराए लेकिन वो महाकाश को कोई घाटा पड़ता है या फायदा होता है महाकाश जो कहते हैं और सब आकाश में ही होता है बरसात भी आकाश के अंदर बाढ़ भी आकाश के अंदर सूखा भी आकाश के अंदर खेत भी आकाश के अंदर लेकिन आकाश निर्लेप आकाश सबको ठहर देता है लेकिन सब उथल पाथल होने से भी आकाश में कुछ नहीं होता आकाश है भी अधिक सूक्ष्म वो परमात्मा सत्ता है ज्यो के त्यों है उसी में ये व्यावहारिक और प्रतिभाषिक सत्ताएं चलती है और वो परमार्थिक सत्ता है जैसे आकाश को कल्पना कर लो परमार्थिक और उसमें आंधी चली बरसात हुई बिजली चमकी मेघ गरजे ये प्रतीति हो गई तो प्रतीति कभी हुई कभी नहीं हुई आकाश सदा है कभी दुख आया कभी सुख आया लेकिन चिदाकाश में आ आके चला गया तो तीन प्रकार के आकाश होते हैं एक ही जो दिखता है उसको भूताकाश बोलते हैं अपने चित्त में महसूस होता है वो चित्ताकाश और चित्त की महसूसी को भी जो जानता है वो परमात्मा चिदाकाश रूप है चित्त में अच्छा फीलिंग हुआ उसको भी जान रहे हो और बुरा फीलिंग हो रहा उसको भी जानते हो तो जानने वाला उससे भी अलग हो गया ना तो पंचदशीकार ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है मेरे को गुरुजी की कृपा हुई तो पंचदशी का ग्रंथ के द्वारा ही हुई सातवा प्रकरण पढ़ने को गुरु जी ने किसी को दिया और सुना बस पक्का फल था जरा सा झोंका लगा वैसे कहावत है कि पक्का फल है और कौवे का बैठना फल गिरना लेकिन मैं ये कहावत यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे गुरु जी की हाजिरी थी कौवे का बैठना बहुत तुच्छ होता है पक्का फल था और हवा का झोंका लगा ऐसे मेरे लिए तर, मेरे मन में ईश्वर के लिए तड़प थी और साधन और गुरु जी की कृपा का झोंका लगा बात समझ में आ गई पंचदशीकार ने लिखा माया मेघो जगन नीरम माया रूपी मेघ और जगत रूपी बरसात कितनी भी बरसे महाकाश को क्या हानि और लाभ भी क्या ગમે એટલો વરસાદ થાય આકાશ મહાકાશ ને શું ગમે એટલા વાદળ થાય बादल हो आकाश को क्या ऐसे जैसा भी जगत की प्रतीति होती है ज्ञानी को कुछ इसी को नानक जी ने कहा सिख धर्म के प्रथम गुरु ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा जैसे जल में कमल अलेपा ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप में रहता प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता दोनों जिससे दिखती है उसी परमेश्वर में टिका है ब्रह्मज्ञानी सदार निर्लेपा जैसे जल में कमल अलेपा ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता वो मोक्ष भी दे सकता है और संसार में उनकी मीठी नजर पड़ती है तो ये प्रतीति भी अच्छी हो जाती ये कनु भाई वो कनु भाई थे जो यहाँ दस हजार रुपये महीने कमाने की पांच हजार कमाने की भी व्यवस्था नहीं थी बेचारे को अमेरिका जाना पड़ा बापू जी आशीर्वाद करो अमेरिका जाऊं अमेरिका गए और अमेरिका गए तो ऐसी हालत थी कि हाउस का किराया भरना भी कनु भाई के लिए मुश्किल हो रहा था फिर हमारे सत्संग में उन्होंने प्रसाद निधार की व्यवस्था की सेवा की तो भगवान को जच गया अब बेचारा सेवा करे थे पति पत्नी स्मिता ने है अभी तो टनाटन है कॉरपोरेशन का मालिक अपना बिजनेस कॉरपोरेशन बनाया नौकर चला रहे साल में दो बार आ जाते इधर लेकिन ये प्रतीति है बेटे कि पांच हजार न तक कमाई सकता है नहीं कमा सकते अभी दो लाख डेढ़ लाख रुपए वाले नौकर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन है सभी ये प्रतीति अपने आत्मा को नहीं जाना तो कोई हल्का स्वप्न आया तो कोई बड़ा स्वप्न आया पहले पांच हजार की आमदनी नहीं थी ऐसा स्वप्न था अभी डेढ़ लाख रुपए वाले नौकर काम कर रहे हैं ये स्वप्न है लेकिन बीत रहा है ना जैसे स्वप्न आ रहे न का तैसा ये संसार बबली और सिंह से माया ना राजकरण में नारायण माया को स्वप्न हो गया ना बबली हुई है ना डेड़ी नहीं मुंहिंजी मुझे मुंहिंजी थी कंदो ना नानक राम ही कंदो आप नानक राम बूढ़े हो गए बेटा और ये एम एल ए हो गए सपना बदल गया लेकिन उसको देखने वाला वही का वही है ना हम बबली थे हम बड़े थे हम बूढ़े हो गए तो बूढ़ा शरीर हो गया बबलू शरीर था उस दोनों को जो जान रहा है वो ज्ञान स्वरूप मेरा परमात्मा आत्मा होकर बैठा है कब मैं उसको जानूंगा तो उसको जानने का प्रयत्न करोगे तो वो जानने में नहीं आएगा प्रयत्न करने वाला उसमें घुल मिल जाएगा जैसे लहर समुद्र को खोजने जाए तो समुद्र का माप नहीं ले सकती लेकिन समुद्र में शांत हो जाए तो लहर समुद्र ही है खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई लवण की पुतली गई था लेने दरिया का समुद्र का और समुद्र रूप हो गई ऐसे हमारी बुद्धि जब साधन भजन सत्संग करके ईश्वर के लिए सत्संग सुनते सुनते उसी विचार में तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वो ज्ञानी वो पूर्ण पुरुष का क्या लक्षण होता है जिसने संसार में आकर पाने योग्य पा लिया करने योग्य कर लिया बाहर से कोई प्रसिद्धि है नहीं है उसका कोई माना नहीं लेकिन ऊंचाई को पा लिया भगवान कृष्ण राम के दर्शन के बाद भी जो काम करने का बाकी है ऐसा स्थिति प्रज्ञ बहुत ऊंची स्थिति होती उस महापुरुष की उसके विषय में अर्जुन ने पूछा स्थिति प्रज्ञ से का भाषा जो स्थिति प्रज्ञा है उसकी क्या भाषा है समाधिस्त केशवा जो अपने आप में समाहिस्त हुआ वो कैसा हुआ श्री कृष्ण ने कहा प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्म आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तोचते जब उसको सुख लेने की भोगने की करने की कामनाएं शांत हो जाती और अपने आत्मा में प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता ये दोनों जिससे दिख दिख के मिट जाती उसी में जिसकी बुद्धि टिक गई ऐसा पुरुष देवताओं का आदरणीय हो जाता है यक्ष गंधर्व किन्नर ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते और आम मनुष्य भी ऐसे संत के दर्शन करके अपनी किस्मत के रंग बदल देते ऐसी ऊंची चीज है उस चीज को पाना बहुत ऊंचा है उसके आगे ये आईने के आगे खड़ा रहकर ये ले आओ वो ले आओ वो बहुत छोटी चीज है समझ में आता है कुछ तो जे कर्म मिले तो राम मिले अगर मिले तो प्रभु तुम मिलो तुम्हारी प्रीति हो जाए तुम्हारी ये माया का कुछ चमत्कार देखकर हम तुम्हारे इस खेल की वस्तुओं को न चाहे लेकिन हम खेल के आप खिलाड़ी भी नहीं है और आप खेल भी नहीं है आप जो है आप ही जाने महाराज खिलाड़ी तो दर्शकों का गुलाम होता है दर्शक डाली बजाए टिकट खरीदे और खेल देखने वाले भी खिलाड़ियों के गुलाम होते कि खिलाड़ी खेले तब उनको सुख मिले महाराज आप न खेल है न खिलाड़ी है आप क्या है आप ही जानते हम क्या है वो भी आप जानते सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी सारी तुम सारा विश्व के गहराई में आप ही सब लीला करवा तुमते हो सो आज्ञाकारी तुम्हारे से जो होता है तुम्हारे संकल्प और हुक्म से वही सब होता तुम्हारी गतिमिति तुम ही जानो तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो नानक रस सदम नानक सदा कुर्बानी महाराज हम तो कुर्बान है तुम्हारे पास और लहर कुर्बान हो जाए समुद्र पर तो सौभाग्य है बुद्धि कुर्बान हो जाए बुद्धि दाता पर तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है वकीलों को ईश्वर नहीं मिल सकता क्योंकि ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं अगर ईश्वर बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के काले कोट की जेब में ही होता ईश्वर तो अमीरों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता अगर अमीरों अमीरी का ईश्वर विषय होता तो अमीरों की तिजोरी में होता ईश्वर बंद सुंदरियों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता है नहीं तो सुंदरियों के पर्स का शिकार हो जाता मेरा प्रभु पहलवानों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता नहीं तो पहलवानों के बगल में होता उठ बैठ कराते और सभी को मिल सकता है पहलवान पहलवानी का गर्व छोड़े वकील बुद्धि का गर्व छोड़े अमीर अमीरी का गर्व छोड़े गरीब गरीबी की दीनता छोड़े बस प्रभु तेरे है हम गरीब है नहीं नहीं हम अमीर है ना हम वकील है नहीं हम साधु महाराज है बापू जी ना मारा ये गलती हम नहीं करते हम बड़ी साधना की थे अरे रात को ऐसा करते ऐसा करते एक बात हो बैठे उसमें ध्यान लगा कि लोग हमको चोर डाकू समझ के आ गए डेढ़ सौ दो सौ आदमी हथियार लेकर हम खड़े होकर यूं देखे तो इधर हो गए उधर हो गए ऐसी मैंने साधना की महाराज कुछ भी नहीं है ये तेरी प्राप्ति के आगे दो दो कोड़ी का भी नहीं है कुछ ए तो तू जिसको वरण करता है महाराज तू जिसको चाहता है ना उसी के हृदय में प्रकट होता है महाराज अब हम तो तुझे चाहे इतनी हमारे में अक्कल नहीं है थोड़ी बहुत करते बाकी तू हमारा हाथ पकड़ ले महाराज तेरी शरण है बस धन की शरण होकर लोभी बन जाते बुद्धि की शरण होकर बुद्धिमान हो जाते बुद्धि जीवी बुद्धि बेच बेच के जी रहे बेचारे <laughs> कपट की शरण लेकर तो प्रेत योनियों को प्राप्त हो भोगों की शरण तो भोगी बनकर खोखले हो जाते लेकिन महाराज जो तुम्हारी शरण आता है वो तुम मैं हो जाता है महाराज मुझे अपनी शरण ले ले प्रभु तो, तो मुझे अपनी शरण में रख गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो तो देखो गुरु कहाँ बैठे गुरु जाति में बैठे हैं गुरु धर्म में बैठे संप्रदाय में बैठे नहीं गुरु बैठे प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता बन बन कर मिट जाती फिर भी जो अमिट है गुरुदेव वहां बैठे तो वो गुरु ब्रह्म हो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो शरीर इंद्रिया मन नहीं अपनी शरण में रहने दो द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल आए इतना आसान है प्रतिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता में तो तप कर करके उलझ जाओ महाराज तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान ये ज्ञान का विचार करना पड़ेगा कितना बड़ा तपस्वी हो जा कितना बड़ा जोगी हो जा कितना छाया साध ले कितना प्रेत साध ले कितना ही अपने मनोबल से वस्तु बना के दे दे लेकिन फिर भी है व्यवहारिक सत्ता द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए इस दर पे गुजारा कर मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो सिर पे छाया घोर अंधेरा ये करूं तो सुखी हो जाऊं ये करूं तो सुखी हो जाऊं ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं ये अज्ञान का अंधेरा छाया है महाराज करते करते तो मरे गए मारे जा रहे हैं सारे थक थक के मुर्दा बन के जा रहे हैं संसार को चाहते हैं तो संसार आपको नीचो के बुढ़िया बुढ़ी बनाकर किनारे फेंक देगा और ईश्वर को चाहोगे तो देर सवेर वो प्यारा तुम्हारा हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के अपने रूप का अनुभव करा देगा अपने मय बना देगा आप इस संसार को चाहोगे तो देर सबेर संसार आपका उपयोग करके नीचो कर नींबू कैसे फेंका जाता है ऐसे संसार आपको एक कोने में फेंक देगा बुढ़ापे में बिल्कुल पक्की बात आप ईश्वर को चाहोगे तो जैसे करुणामयी मां बच्चे को पुष्ट कर देती बचिया को पुष्ट कर देती है और करुणामयी माँ बचिया को माँ बना देती है ऐसे ही करुणामयी माता पिता स्वरूप परमार्थिक सत्ता आपको परमार्थिक मय बना देगी ब्रह्ममय बना देगी ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको ईश्वरमय बना देगा ब्रह्ममय बना देगा और संसार को आप चाहोगे तो संसार आपको नीचो कर फेंक देगा बिल्कुल पक्की बात दूसरी बात है कि संसार से अलग होते तब संसार का ज्ञान होता और परमार्थिक सत्ता से ईश्वर से जब एक होते तो ईश्वर का ज्ञान होता संसार से अलग होकर संसार का उपयोग किया जाता है और ईश्वर से एक होकर ईश्वर का अनुभव किया जाता है और प्रार्थना करते करते भी अनजाने में वो परमार्थिक सत्ता में एक आध सेकंड दस सेकंड पर तब वो प्रार्थना फलती इसलिए पक्का इरादा करो कि हमें तो भाई व्यवहारिक प्रतीति एक सपने की प्रतीति और ये व्यवहारिक प्रतीति बदल जाती फिर भी जो नहीं बदलता वो तेरा ज्ञान चाहिए तेरा प्रकाश चाहिए तुझ में प्रीति हो जब दुख आवे तपस्वी से योगी अधिक है श्री कृष्ण का अनुभव है श्री कृष्ण का अनुभव कोई एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है श्री कृष्ण का अनुभव मानो मानो मात्र के मंगलमय अनुभव की बात श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी तपस्वी तप तो करता है लेकिन तप चाह करके स्वर्ग चाहता है वो भी व्यवहारिक प्रतीति है यश चाहता है यूं करके कुछ चमत्कार करना चाहता है तपस्वी भी अधिक योगी ज्ञानी भी मत अधिका चार वेदों का ज्ञान है इधर का ज्ञान साइंटिस्ट आइंस्टीन फाइंस्टीन जैसे उसके आगे मत्था टेकते इतना बड़ा विज्ञानी है लेकिन है तो व्यवहारिक सत्ता में उलझा हुआ तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो मतो अधिक आहा कर्मी बेहोश से अधिक योगी इतना बढ़िया कर्म करता है इधर फैक्ट्री उधर फैक्ट्री रॉक्स ओ हो इतना धन इतना मिलियन बिलियन हाउस कितने मिलियन लोग तो उसके पास काम करते थे और पचास से तिरपन साल की उम्र में तो स्वास्थ्य इतना खो दिया कि डॉक्टर ने बोला mister Rockefeller you will expire within six month only छह महीने के अंदर तो मर ही जाओगे अब पाचन डाइजेस्ट पावर डाउन रात को नींद नहीं आती अयो नहीं अयो ना you will die within six month फिर क्या करो मौत सामने आती तो स्वामी विवेकानंद उन दिनों में संत के शरण गया और उन्होंने कहा जो धन संग्रह करने के लिए आप लगते हैं उस धन का सदुपयोग करो ईश्वर की प्रीति के लिए रॉक्स फेलर लिखता है कि मैं पचास से तिरपन साल की उम्र में बहुत बीमार हुआ और आखिरी में डॉक्टरों ने यही सुनाया कंसल्टिंग करके बहुत सारे बड़े डॉक्टरों ने मिलियन मिलियन मिलियन मतलब क्या दस लाख को मिलियन बोलते ऐसे लोग काम करते जिसके पास उसको इतना टेंशन और ये क्या तो महाराज अब वो अपना धन कहीं चला न जाए ये न जाए वो जाओ तो जाने वाला है अब उसको ईश्वर की प्रीति के लिए अच्छे काम में लगाओ तो भय निर्भयता में बदला और लोभ सेवा में बदला स्वार्थ परमार्थ में बदला रॉक्स फेलर लिखते हैं कि मैं तिरपन साल में मर जाने वाला व्यक्ति आज तिरानवे साल की उम्र में तुम्हारे स्कूल का चीफ गेस्ट होकर मैं भाषण दे रहा हूं ये सत्संग का प्रभाव है जीवन जीने का ढंग है तो जो प्रतीति हो रही है उसको सत्य मानेगा तो चाहे रॉक्स फेलर हो चाहे उससे भी कोई और हो दुखी रहेगा मजदूर भी दुखी रहेगा और राष्ट्रपति पद पर है तभी भी दुखी रहेगा राष्ट्रपति पद चला जाने पर रेगन बेचारा कैसा दुखी हुआ दूसरे लोग और समझो राष्ट्रपति पद मौजूद है और ऐसे आराम से मर गए तो बाद में फिर उस पोस्ट को नहीं मिले तो प्रेतों के भटकना भी दुखी और फिर किसी के गर्भ में आए गर्भ मिला तो ठीक नहीं मिला तो बाथरूम में बह गया पेशाब में तो दुख है ना वो पेशाब गटर में जाएगी तो दुखी तो हुआ ना मैं बड़ा सेठ बन गया और दूसरे जन्म में फिर जन्म नहीं मिला तो मेरा शरीर तो सूक्ष्म पिता के गंदे नली से ही तो पसार होना रहा माँ के गर्भ नहीं मिला तो मेरे को तो भटकना पड़े तो ऐसा क्यों घाटे का सौदा करना इसीलिए परमात्मा को पाने का पक्का इरादा कर बड़ा महंत बन जाऊं बड़ा सेठ बन जाऊं बड़ा बापूजी जैसा बन जाऊं ये मत करो बापूजी इन कारण बापूजी नहीं है बापूजी प्रतीति को प्रतीति मानते और प्राप्ति में टिके तब बापूजी ये बापूजी का विषय नहीं तो समाज का है लोगों का है बापूजी का तो वह है साधु अब हम ना मरेंगे हमारी मरे बला सत्पुरुषों का बाल खा मरे न मारा जाए हम मरेगा तो यह मरेगा मैं नहीं मरूंगा आम आदमी शरीर की मौत को अपनी मौत मानता है शरीर के काले चमड़े के कालेपन को मैं काला हो गया चमड़े के गोरेपन को मैं गोरा हो गया अमेरिका से जो लोग आते हैं उनको हिंदुस्तानी लोग देखकर प्रभावित हो जाते लेकिन बेटे उन बिचारों अमेरिका से आए हुए को देखकर प्रभावित मत हो उन पर हृदय की सद्भावना बरसाओ कि वहाँ बेचारों का चमड़ा गोरा होता है फैट बढ़ जाती है और नाड़ियों का पावर डाउन हो जाता है अमेरिका में भोगी वाइब्रेशन इतने हैं खाने पीने के तो जितना जीव चंचल उतना काम इंद्री के द्वारा लीकेज प्रॉब्लम सेक्स ये वो तो नाड़ियां दुर्बल्य अमेरिका के इलाके में नाड़ी दौर्बल्य अधिक यूरोप अमेरिका नाड़ी दौर्बल्य और चेहरा टिपटा और यहाँ गर्मी है क्लाइमेट है ऐसा तो शरीर जरा काला पतला दिखेगा लेकिन नाड़ी मजबूत हिंदुस्तानी की इसीलिए अमेरिका का आदमी आएगा तो यहाँ उनको पानी भी हजम नहीं होता बोटले लेके घूमते और यहाँ वाला जाए वहां तो दूध भी हजम पानी भी हजम लक्कड़ पत्थर हजम हिंदुस्तानी कहीं भी सेट हो जाता है लेकिन अमेरिका वाला जहां तहा सेट नहीं हो सकता जरा सा गर्मी पड़ी तो एसी चला दी जरा सा सर्दी ज़्यादा हो तो हीटर चला दिया तो रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं और शरीर बॉडी ही सब कुछ है प्रतीति ही सब कुछ है ऐसा जीते बेचारे तो अमेरिकन लोग आए तो उनको देखकर आप ये नहीं समझना कि बड़े सुखी है नहीं नहीं प्रतीति में बड़े बेचारे खोए हुए हैं और जो सत्संग करता है उसको चाहे खाने को ठीक ठाक नहीं हो रहने को झोंपड़े में से चंद्रमा के किरण आते भजन करता है तो मंजीरे बजाने के झांझ पत्थर के दो टुकड़े झांझ तुकाराम मारा पत्थर के झांझ बना बजा रहे क्योंकि वो पैसा नहीं है झांझ खरीदने का छह आने में मिलते थे उस समय आठ आने में झांझ वो नहीं थे तो पत्थर के झांझ बजाते थे विठल्ला विठल्ला पांडुरंगा विठल्ला इकडम तिकडम काय कराचा विठ्ठल विठ्ठल बोला माझी माऊली माझ्या कन्या छत्रपति शिवाजी ने धन दौलत अशरफियों के थाल भर के भेजे बोले महाराजा इनमें कोई सार नहीं है तो मेरे को बिच्छू जैसे लगते ये तो तुम ही रखो लेकिन याद रखना तुम भी इनको अपना नहीं मानो भगवान में मन लगाओ तो मुझे खुशी होगी तुम ये मुझे दोगे घोड़े और ये जो थाल और हीरे भर के भेजे मेरे को ये नहीं चाहिए मेरे पास भले रहने को झोपड़ा ठीक से नहीं है मंजीरे तो लेकिन जो पांडुरंग है उसकी चाबियां मेरे पास रहती विठल की कुंजियां मेरे पास रहती रिद्धि सिद्धियां उनकी दासी तो प्रतिति को प्रतीति माने और प्राप्ति में टिक जाए उसका जीवन तो धन्य है ऐसे पुरुष का दर्शन भी व्यर्थ नहीं जाता साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम ऐसे संत पुरुष के दर्शन से पातक नाश होते संत के दर्शन से तो पातक नाश होते संत चले गए फिर उस जगह पर लोग मत्था टेकते फिर भी कोई शांति मिलती तीर्थ हो जाता है वो जगह आज जो भी तीर्थ बने या तो भगवान के चरण रज से या तो भगवत प्राप्त महापुरुष के चरण रज से तो वे होते तभी तो मंगल होता है लेकिन वे चले जाते तो उनके स्थानों से भी लोगों का मंगल होता है तो उनका कैसा मंगलमय जीवन तो आप हम ये पक्का इरादा करें कि बस आखिर ऐसी चीज मिले कि जब छूटे नहीं और अपने बल से प्रयत्न करो लेकिन ईश्वर के बल को बुलाओ तू दया कर हे नाथ अब मुझे तुझे पाना है मेरा इरादा पक्का हो जाए तेरी कृपा से तू मिलेगा अब दया कर मेरी तड़प बढ़े तेरी कृपा हो जाए बस मैं कौन सा साधन करूं साधन के बल से तो आप अपने परिश्रम से ईश्वर को लेना चाहते कोई अपने परिश्रम से जगत को चाहता है कोई अपने परिश्रम से ईश्वर को चाहता है अपने परिश्रम से जगत को चाहता है एकदम थर्ड क्लास बुद्धि अपने परिश्रम से ईश्वर को चाहता है मध्यम है अपना परिश्रम लेकिन ईश्वर की कृपा से ईश्वर को चाहता है आय है उत्तम विचार वाला गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रह बुद्धि की मन की संसार की नहीं अपनी शरण द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए हैं इस दर पे गुजारा कर तो। दो चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो डूबेंगे भी तो <laughs> प्राप्त में डूबेंगे और तैरेंगे तो संसार से तैरेंगे चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो मर भी गए तो देंगे दुहाई ये नैन मेरे और जोत तेरी आंखें तो मेरी हो लेकिन देखने की ज्ञान की धारा गुरुदेव तेरी हो सिर पे छाया घोर अंधेरा ना ही राह को ये नैन मेरे और जोत तेरी इन नैनों को भी बहने दो विरह के आंसू बहाओ ईश्वर तुम कब मिलोगे ટાલ આવી ગઈ પણ હજી કોષ કબાડા ના છૂટે તો ક્યારે છૂટશે ઢાલ આવી ગઈ પણ ઈશ્વર તારા માટે કર્મ નહીં કરીએ તો પછી શું કરીશું सिर पे छाया घोर अंधेरा सूजत नाही रहा कोई ये नैन मेरे और जोत तेरी इन नैनों को भी बहने दो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने ये नाव मेरी और हाथ तेरे मुझे भवसा घर से तरने दो नाव मेरी है लेकिन हाथ तुम्हारी सत्ता से चले नजरें बदले तो निजारे बदलेंगे किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदलेंगे हमारी नजर नश्वर पर है तो निजारे नश्वर मिलेंगे हमारी नजर तुझ पर है तो निजारे शाश्वत के मिलेंगे मेरे यार मेरे प्रभु इरादा कर लो ईश्वर प्राप्ति का तो किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदलेंगे नजर बदली तो निजारे बदलेंगे किश्ती बदलेगी रुख तो किनारे बदलेंगे ओ नारायण नारायण नारायण ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार सपना है सपने तुल्य देखूंगा सुख और दुख को देखकर मैं समता के साम्राज्य में रहूंगा ऐसे दिन कब आए प्रतीति को प्रतिभाषिक और व्यवहारिक प्रतीति को प्रतीति मानकर प्रतीति जिनके आगे आ आकर बदल जाती फिर भी जो नहीं बदलता है उसमें मैं कब आराम पाऊंगा मेरे राम मारा वालुड़ा मुझा बाजारा साई माजी माहौली मेरे अल्लाह ओ मेरे रब ये मारा ठाकुर जी बढ़िया बाप जी रे तू तो दिन दुखियो रहता रे तू तो गरीब रे उगा रे હું તો આવ્યો થોરે द्वारे महाराज बड़ो सावलिया से डरी जे कैसे भी करके आप पुकारो इनमें दो चार बार तो चिल्लाओ सचमुच में आ जाए तो गनीमत है झूठ मूठ में भी भूत भूत तो भूत का भरम हो जाता है और भगवान तो सचमुच में ही है भगवान ही हमारे थे हैं और रहेंगे पति पत्नी दोस्त मिलकत ये तो प्रतीति मात्र है अगले जन्म की पत्नी दोस्त मकान चावल कहां गए चीटी बने होंगे तो दस पांच चावल में ही मानते होंगे हमारी मील चलती है अब इस दस पांच टन में लागेगा हमारी मील फर्क क्या पड़ता है प्रतीति हमारा तो ईश्वर था है और रहेगा बस काहू डोलत तो प्राणियात दराखे को सर जनार ये करूं वो करूं नहीं तो उसको पाने का इरादा कर दे बाकी सब ठीक हो जाएगा एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए अब एक थोड़ी सी विनोदी बात विनोद भी जरूरी चेले ने कहा गुरुजी हम यात्रा करने को जाए था तुम्हारी सेवा करते रहे दुनिया भर भर मां आप कछु दई दो गुरुदेव हमें मांगना ना पड़े आप जैसे बड़े सिद्ध पुरुष के चेले बा कैसे मांगे हम ऐसा कुछ दई दो कछु हमारा को जरा यात्रा में मिलता रहे गुरु ने एक का खींच दिया बोले जा बेटा एक रुपया रोज बिना मांगे मिलेगा कोई पांच दे देगा पांच दिन का कोई दो दे देगा समझो तू मांगेगा नहीं मैंने के तीस रुपए का खर्चा बहुत हो गया हो जाने गया तो करीब करीब उसको महीने में तीस रुपये दक्षिणा मिल जाती और गुजारा कर लेकिन सब ऐसे ही मुफत में मिला और गुरु की निगरानी रही रही और सुविधा मिलने लगी मन हो गया हरामी गुरु की छाया के बिना मन हरामी हो ही था है वो भी था है हम कहीं था दूसरे किसी संत के पास गया बोले कैसे गुजारा होता बोले हमारे फलाने गुरु जी अरे वो तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं भाई वो तो ब्रह्मवेता है कैसे हाँ ठीक हो ना ब्रह्मचारी बोले हाँ ठीक तो है महाराज गुरुजी ने तो इक्का कर दिया है अब तीस रुपए की एवरेज आती आप भी कम नहीं हम तो आपको भी गुरुजी मानते आप जरा कुछ कर दीजिए बोले इक्का तो कर दिया ना तुम्हारे गुरु जी ने बोले हाँ बोले लाओ मिंडी हम दही देता है अब महीना का तीन सौ रुपया आई था है खाई था है दान पुण्य करी था वाह वाही हो था लेकिन शांति और भजन नियम टूट ही सका था छोड़ ही सका था नियम नियम छूट गया और मन चढ़ रहा घूमते घूमते जूनागढ़ गिरनार शिवरात्रि का मेला देखने गए वो कोई साधु पुरुष रहते थे उस समय अभी भी गुप्त साधु रहते कई गए अच्छा तो कहाँ से आए बोले हम वहां से आए इलाहाबाद के उसे गुफा में मारा गुरु जी रहते हैं इधर को है अरे हम नाम सुने हैं कि कैसा ठीक है बोले गुरु जी ने तो एक का कर दिया दूसरे संत ने मिंडी लगा दी महाराज आप भी कम नहीं है दान पुण्य भी होता रहेगा धर्म की सेवा भी होती रहेगी आपका बच्चा हम जरा अच्छा बोले लाओ हम भी एक मिंडी लगाई देता है महाराज अब तो एवरेज तीन हजार की हो गई अब जैसी प्रतीति बढ़ी ऐसी मन बुद्धि मोटी हो जाती है आई एम समथिंग मैं भी कुछ हूं वीआईपी लोगों से ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती जितना कुछ मान सम्मान बनता है आई एम समथिंग में बेचारे उलझ जाते फिर वो समथिंग लेके संतों के पास जाते तो संत भी उनकी समथिंग को तुम की मार के रवाना कर देते बोले अपना ग्राहक बनेगा ही नहीं क्यों सिर खपाना अरे छो अरे भाई आप तो बहुत बड़े हाँ भाई हाँ चलो उसको जो खुराक चाहिए वाह भाई का दे दिया जाओ चुट्टी ये अमृत तो शिष्यों को मिलता है वीआईपीओ को नहीं मिलता जयराम जी के अभी ये तो वीआईपीओ के बैठे होते तो नहीं मिलता है अभी शिष्य होके बैठी देवी गुरु जी के पास गए पाँच सौ रुपये धर दिए गुरु जी आपका हमारा अब हमको छुट्टी कह दो दुई सौ रुपया में लाख नहीं होगा हम पाँच सौ धैर्य हैं अब हम अपना अपने ढंग से अपने ढंग से रहेंगे घर में रह के भजन करेंगे गुरु जी देखा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चेले की बोले बेटा क्या हुआ तो बोले ऐसा ऐसा तो रोज का ही सौ रुपया मिलता है ऐसा है गुरु जी ने वो कागज जरा दही दो तो दिखाए कागज गुरु जी ने देखा कि हाँ एक तो हमार है और ए मिंडवा ए दुई दूसर के है हम एक एक करित है देख ले अब जाए बैठा तू मौज करिए अब एक का तो हट गया अब जहां <laughs> जाए बात धक्के मिले था तो एक का तो हट गया इक्के ते सब होत है सब ते एक ना हो सारी मिंडिया मिला तो एक नहीं बनेगा और एक है तो कितनी भी मिंडिया लगाओ तो अब बढ़ जाए ऐसे उस एक परमात्मा से ये दो नेत्रों की मिंडियों की वैल्यू है दो कानों की मिंडियों की वैल्यू है दो नथुनों की वैल्यू है ये मुखड़े की वैल्यू है दो नीचे के हॉल है उनकी भी वैल्यू एक चैतन्य सत्ता के कारण एक कहते हैं सब होता है सब ते एक न हो हम कही है उल्टी खोपरी मां बात ये मिले ये मिले वो मिले तीन सत्ताएं होती है एक प्रतिभाषिक सत्ता होती है जैसे सपने में प्रतीत हुआ ये हो गया वो हो गया आंख खुली तो कुछ नहीं दूसरी ये व्यवहारिक सत्ता है हम मंच पे बोल बैठे आप वहां बोल रहे हैं सुन रहे हैं ये व्यवहारिक सत्ता है तीसरी होती तात्विक सत्ता वास्तविक सत्ता आत्मसत्ता तो प्रतिभाषिक सत्ता स्वप्ने जगत में ही सच्ची लगती है उस समय शेर आता है तो डर लगता है उस समय बीमारी होती है और डॉक्टर आते तो डॉक्टर की बात सुनना करना इंजेक्शन ये वो सब एहसास होता है स्वप्ने की शादी में जो कुछ शादी का होता है माहौल उसका सुख दुख भी होता है लेकिन प्रतीति मात्र है उसको प्रतिभाषिक सत्ता बोलते ये दूसरा है व्यवहारिक सत्ता ये दोनों सत्ता जहां से सत्ता पाती वो है तात्विक सत्ता तात्विक सत्ता सत्य है प्रतिभाषिक सत्या स्वप्न में व्यवहारिक सत्ता यहां मिथ्या है ये सब बदल जाती बचपन का बचपन ए डाया ऐसा पुकारा था तुमको डीआईजी कईयों ने पुकारा था अभी मैं पुकार सकता हूं पुत्र की नाई शिष्य पुत्र के बराबर हूं लेकिन आइए व्यवहारिक सत्ता है लेकिन वो डाया डाया भाई हुए डाया जी साहेब हुए अब वंजारा साहेब हुए ये व्यवहारिक सत्ता में परिवर्तन हुआ लेकिन परमार्थिक सत्ता वही थी जो डाया नाम सुना था उसी ने अभी डाया जी सुना उसी ने साहब सुना उसी ने डीआईजी सुना और ये डीआईजी पद नहीं रहेगा फिर भी सुना जिसकी सत्ता से वो पद कभी मिटेगा नहीं जो मिटेगा नहीं उसको जानना ही मनुष्य जीवन दक्ष आरम प्रचल प्रहार सिद्ध ये सब व्यवहारिक सत्ता में लेकिन बदल गया इसको जानने वाला अभी नहीं बदला इसी को नानक जी ने कहा मन तू ज्योति स्वरूप तू सबको जानने वाला चैतन्य अपना मूल बिछा ये इंद्रियों में शरीर में बाहर के संबंधों में इतना उलझ मत कि जो काम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था वो नष्ट हो जाए गला डूब व्यवहार में थे छत्रपति शिवाजी फिर भी समय निकाल के समर्थ रामदास के चरणों में जाते टाकली में है गए तो बोले टाकली से तो भी चले गए शिवाजी ने सिर कुटा के मैं अभागा गुरु का सत्संग नहीं कर पाता हूं फिर घोड़ा दौड़ाया कि वो आश्रम में है तो आश्रम में इंतजार किया बोले वो तो पीछे आए थे और पीछे के दरवाजे दो तो सुबह ही चले गए आप इंतजार करते शाम में तो बोले इतना बड़ी आश्रम कैसे बना समर्थ जी तो जन बोले ये आपके राजकोष से ही बनाया मंत्रियों ने भेजे पैसे और ये सारी धर्मशाला और मंदिर और सीताराम का मंदिर सब मार्बल का ये सब आपके राजकोष से बना शिवाजी को संतोष हुआ चलो के मंत्री ने धर्म की सेवा तो की लेकिन मैं अभागा अभी तक गुरु जी से वो तत्व ज्ञान नहीं पाया जिसको पाने के लिए मानुषी बुद्धि मिली है वही नहीं पाया और लोग मेरे को शिवाजी और छत्रपति कहते क्या राख है ये तो जल जाने वाला है जो इसके पहले था अभी है मरने के बाद रहेगा उसको नहीं पाया तो फिर क्या पाया मैं वो टाकली में नहीं मिले उधर नहीं मिले ऐसे करते करते समर्थ जी चाफल में कोंडवाला की गुफा में वहां फिर गए राजकाज संभाल के कौंडवाला की गुफा में गए ये मैं प्रमाण सर बात बोलता हूँ हाँ? किसी नावल की कथा नहीं है शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ समर्थ चाफल में कौंडवाला की गुफा में प्रतापगढ़ फिर एक बार शिवाजी को पत्र आया समर्थ शिवाजी बैठ गए कहाँ माँ भवानी तुलजा भवानी के मंदिर में नहा धो के मयान से तलवार खींच कर उस बहादुर ने निकाली के मैया सुबह होते होते मुझे गुरुदेव के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो ये शिवाजी की गर्दन तेरे चरणों में भेंट रख दूंगा ऐसा गुरुओं का आदर शिवाजी महाराज आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का कितना भी आदर करो कम होता है चौरासी लाख जन्मों के पिता नहीं दे पाए माता नहीं दे पाए मित्र सगे संबंधी नहीं दे पाए वो सदगुरु देव देते हैं सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट ये भरम घुस गया कि मैं ये शरीर हूँ मैं फलाना हूँ हकीकत में आप ये जो दिखते वो थे नहीं हो नहीं और रहोगे नहीं सुबह जितना था उसमें से कितना ही निकल गया डबल सिंगल के द्वारा और दूसरा नया कितना ही आया ये रोज बदलता है फिर भी जो नहीं बदलता उस चैतन्य को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है दुनिया भर को खोपड़ी में डाल दिया तो क्या झक मार लिए आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते जब मिला आत्म हीरा तो जग हो गया सवा का सिरा ये प्रतिभाषिक सत्ता है व्यवहारिक सत्ता है ये दोनों सत्ताएं जिस परमेश्वर से दिखती है वो सार स्वरूप है सुबह होते होते प्रभात को इस समर्थ को पता चला कि एकदम लालायित है समर्थ अपने बल से वहां प्रकट हुए आ गए कैसे भी आए शिवा बहुत याद किया अच्छा ये लो माला तुम्हारा मंगल हो गुरुदेव वो कौन सी चीज है जो पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहता जिसको पाने के लिए मनुष्य जीवन में आए वो कौन सी चीज है वास्तव में जीवन क्या है कि क्या अभी सब जान लेगा मैं बाद में हूं मिलूंगा समर्थ चले गए मर्यादा में विश्वास रखने और गुरु तत्व की महिमा जानने वाले शिवाजी ने दंडवत प्रणाम कर लिया समर्थ चले गए फिर घोड़े सवार आया कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज के नाम का पत्र समर्थ रामदास ने डांट चढ़ाई थी तुम शिवाज राजाधिराज महाराज के अपनी प्रशंसा तो सुन लेते हो लेकिन राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन कर क्या हमारा दाना पानी पूछा हमारे खाने पीने की कहीं व्यवस्था की तुमने जनता के पैसे से वाहवाही का भोक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अपना कर्तव्य निष्ठ होना बड़ी बात है क्या तुम इस इस कर्तव्य में कायर नहीं हो साधु संतों का खबर लेने में तुमने कायरता का दर्शन नहीं कराया इस प्रकार के और भी जो शब्द थे शिवाजी के आंखों से हर्ष के आंसू टपके कि मेरे को अपना माने है तो मेरी ये भूल भी गुरु जी को खटकती तो पत्र नम्रता भरा लिखकर घोड़े सवार को दिया कि मैं अब ये गलती सुधारूंगा आप मुझे सोए हुए को जगाया आपकी बड़ी कृपा है मैं आपका कृतज्ञ हूं कृतज्ञ हूं पत्र तो लेकर वो घोड़ेसवार चला गया लेकिन शिवाजी को वहां के गुरु जी को पत्र पढ़ के सुनाएगा कौन सुनाएगा गुरु जी फिर शिवाजी ने घोड़ा भगाया भगाते भगाते भगाते हा हा प्रतापगढ़ माहुली पहुंचे सेवक ने खबर दिया कि छत्रपति आए बोले अभी तो इसका पत्र लिखा हुआ है मैं पढ़ ही रहा हूं क्षमा याचना की है बहादुर ने अपनी गलती महसूस की अपनी गलती महसूस करना ये भी बहादुरी है गलती के लिए सफाई देना ये तो मूर्खों का काम है बहादुर अपनी गलती बताने वाले का धन्यवाद करता है और मूर्ख आदमी गलती बताने वाले का ही गला पकड़ता है जो भी अधिकारी या जो आपका असिस्टेंट सफाई मारे तो समझो कि वो विकास के दरवाजे बंद कर दिए સાહેબ એવું છે ને સરકારી નોકરોમાં લગભગ એવું જ હોય છે हमारा आदमी कोई सफाई मारता मैं कहता हूँ सरकारी नौकर है आश्रम का आदमी नहीं अभी अभी तो तुम आता है तुम मुझे पत्र लेन तुम्हें गुरु जी रहा नहीं गए क्या अच्छा बैठो जलपान किया पत्र गुरुजी ने पढ़ा संतोष हुआ कह पाए क्या चाहते हो जी वास्तविक जीवन क्या है बोले वास्तविक जीवन शिवा ये जो देखता है ना ये तो व्यवहारिक जीवन है सपने में भी देखता है वो प्रतिभाषिक जीवन है वास्तविक जीव वास्तविक जीवन की सत्ता से व्यवहारिक और प्रतिभाषिक की प्रतीतियां होती है बचपन बदल गया ना उस समय बचपन वास्तविक लगता था फिर जुआन हुए तो जुआन वास्तविक लगता है फिर बाल सफेद आए थोड़े तो वो ये वास्तविक नहीं है प्रतिभाषिक जीवन है वास्तविक जीवन कुछ और है उसको पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है तो गुरु जी उसको कैसे पाए बोले बेटा सतर्क था कोई भी सुख और दुख का परिणाम अपने चित्त में क्या होता है दुख किसको होता है सुख किसको होता है इच्छाएं कहाँ होती है सतर्कता खोजो अच्छा आप जाओ बोले गुरु जी सतर्कता थोड़ा और भी कृपा करो बोले जागरूकता सुख के भोक्ता मत बनो दुख के भोक्ता मत बनो दुख और सुख में जागरूक बनो तब वास्तविक जीवन में जाओगे बेटे गुरु जी वास्तविक जीवन में जाना तो चाहता हूं क्या करना चाहिए बोले जाओ फिर आते रहना क्या एक दिन में सब सीखना है क्या बोले कृपा हो जाए बड़ी शांति मिले बोले जिज्ञासा जहां से मैं मैं मैं उठती उसकी जिज्ञासा मैं दुखी दुखाकार वृत्ति आई मैं सुखी सुखाकार वृत्ति आई फिर भी जो नहीं बदला उसकी जागरूकता शिवाजी महाराज को ये हुआ ऐसे करते करते सत्संग सुनते जिज्ञासा प्रयत्न विचार शिवा त्याग गुरु जी क्या त्याग फिर गुरु जी ने बताया कि अहंता का त्याग ममता का त्याग ऐसे से त्याग अपना यश है तो उसमें बड़प्पन का त्याग और बड़ों के आगे आप सानिध्य लेते हैं तो दोष मिटते हैं तो निर्दोष होना है तो अपने में निर्दोषता के अहम का त्याग आदि आदि समझते समझते आए हाय मैं तो शिवाजी को धन्यवाद दूंगा उनकी जननी को धन्यवाद दूंगा गला डूब व्यवहार में रहने वाले शिवाजी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया जो राजा जनक को हुआ था वो शिवाजी ने किया शिवाजी राजा थे उसके लिए मुझे आदर नहीं है लेकिन शिवाजी जिज्ञासु थे शिवाजी गुरु भक्त थे और शिवाजी ने समर्थ की कृपा को अच्छी तरह से बचाया इसलिए मैं शिवाजी के लिए मेरे हृदय में बहुत प्यार है नहीं तो कहाँ ब्रह्म परमात्मा की चर्चा और वहां मैं शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज किसी राजा महाराजा के हम मुर्दों की कथा नहीं करते लेकिन शिवाजी जीवित है अपने जीवन को जानने वाला पुरुष ईश कृपा बिन गुरु नहीं गुरु बिना नहीं ज्ञान गुरुवर गुरु ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद पुरा ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद